परम पिता परमात्मा का स्मरण जगत का रचयिता और धारण करने वाला परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों जीवन को धर्मपूर्वक चलाने के लिए आध्यात्मिक रीति से चलाने के लिए एक और मंत्र आज हम देख रहे हैं श्रेष्ठ मनुष्यों को परमात्मा के विषय में क्या समझना चाहिए कैसे समझना चाहिए और इस सृष्टि को किस रूप में देखना चाहिए ये आज के मंत्र के अंदर बताया गया है ये मंत्र यजुर्वेद के सत्रहवें अध्याय का अठारहवा मंत्र है और महर्षि दयानंद ने इसे अपनी पुस्तक आर्यभिविनय के द्वितीय प्रकाश में बत्तीसवीं संख्या पर रखा है इस मंत्र में पहली पंक्ति में कुछ प्रश्न किए गए हैं और दूसरी पंक्ति में उनके उत्तर दिए गए हैं प्रश्न ऐसे हैं जो किसी भी विचारशील मनुष्य के मन में उत्पन्न हो सकते हैं जो भी बुद्धिमान है वो इस प्रकार के प्रश्न मन में उठा लेता है या दूसरे ढंग से कहें कि संसार को देख करके इस प्रकार के प्रश्न कभी न कभी प्राय सभी मनुष्यों में उठते रहते हैं कुछ व्यक्ति उन प्रश्नों को उठा करके थोड़ा बहुत समाधान करके फिर अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति वैज्ञानिक विद्वान उसके पीछे लगते हैं और उनको खोजने का प्रयास करते हैं और इसी में अपना जीवन भी लगा देते हैं तो ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है उसके बारे में प्रश्न है किन स्वित आसित अधिष्ठानम किंचित मतलब कौन सी वस्तु क्या आसी था अधिष्ठानम अधिष्ठान आधार आश्रय किसका इस सारे जगत का ये सारा जगत हमें गतिशील दिखाई दे रहा है इतना विस्तृत ये दिखाई देता है लोक लोकांतर है ये बने हैं ये हमें समझ में आता है लेकिन बनने से पहले क्या थे और इनका आधार क्या था पहले इनका आधार क्या था बनने से पहले ये कहां थे और बनने के बाद भी इनका आधार क्या है किंचित आसित अधिष्ठानम इनका आश्रय क्या है क्योंकि बिना आश्रय के ये ठहरेंगे कहां पर बिना आश्रय के इनको व्यवस्थित करने वाला कौन होगा एक सहज प्रश्न है और आके कहा आरंभणम और इनका आरंभ क्या था किसने इन्हें प्रारंभ किया था किसने इन्हें उत्पन्न किया था इस संसार की योजना किसने बनाई थी ये किसकी बुद्धि है किसका विचार है इस रूप में ये बन गया है और योजना बनाने के बाद में आरंभ किसने किया था इसे इसे दिशा किसने दी थी इसका निर्माण किसने प्रारंभ किया था आजकल वैज्ञानिक जो अनुसंधान करते हैं कि संसार बना है तो किन पदार्थों से बना है इसके मूल कण क्या है किस प्रक्रिया से बना ये सब वो बहुत खोजते हैं और बहुत से सिद्धांत बहुत सी परिकल्पनाएं उन्होंने समाज को दी भी हैं भिन्न भिन्न परिकल्पनाएं हैं प्रश्न यद्यपि उनपे भी विद्यमान है और वो परिकल्पनाएं परस्पर भिन्न भिन्न हैं विरुद्ध भी हैं लेकिन प्रयास किया अपनी अपनी बुद्धि से उन सब में एक प्रश्न रहता है कि आरंभ कैसे हुआ यदि वो महाविस्फोट की बिग बैंग की बात करते हैं तो बिग बैंग हुआ क्यों वो कहें कि अंदर ऊर्जा का इत्यादि का कुछ परिवर्तन हुआ वो क्यों हुआ आरंभ कैसे हो गया वो और उससे पहले क्यों नहीं हुआ था उसी समय क्यों हो गया इसका कोई उत्तर नहीं है और इसका उत्तर जान भी नहीं सकते लेकिन ये प्रश्न तो उनके मन में भी है उनकी सीमा नहीं है वो जान नहीं सकते और वैज्ञानिक ही नहीं हम सामान्य मनुष्य भी नहीं जान सकते कोई भी नहीं जान सकता इसका आरंभ किसने कर दिया क्योंकि हम उस समय थे नहीं शरीरधारी नहीं थे हम जान ही नहीं सकते थे हम केवल परिकल्पना और ऊहा कर सकते हैं लेकिन जिसने इसको आरंभ किया था जो इसका आधार था अधिष्ठान था उसे तो पता है वही परमात्मा इस मंत्र में हमें ज्ञान करा रहा है बोध करा रहा है पहले वो प्रश्न रख रहा है वो प्रश्न जो कि मनुष्य मात्र में उठ सकता है उठता है किंचित आसित अधिष्ठानम आरंभणम कोई ना कोई तो होगा बिना आश्रय के और बिना आरंभ के ये नहीं हो सकता आज के संसार में भौतिक विज्ञानी विभिन्न नियमों को बताते हैं कोई चीज बनी है तो उसका मूल उपादान कारण भी होगा वो कहीं टिका हुआ होगा उसने कोई जगह घेरी होगी और उससे कार्य द्रव्य बना है तो किसी ने उसे बनाया होगा किसी ने वहां बल लगाया होगा क्रिया हुई होगी विभिन्न भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए होंगे तब जाकर के ये नई वस्तु बनी है तो आश्रय अवश्य होगा अधिष्ठान अवश्य होगा और आरंभण भी अवश्य होगा संसार की कोई भी निर्मित वस्तु को देख लें सब जगह उसका अधिष्ठान और उसका आरंभण होगा ही और विज्ञान से ये बिल्कुल सत्य सिद्ध है इसके बिना कोई भी यदि समाधान देने लगे तो विज्ञान को भी स्वीकार्य नहीं होगा किसी भी बुद्धिमान को यह स्वीकार्य नहीं होगा कि ये वस्तु बनी है इसका अधिष्ठान कोई नहीं है और इसका आरंभण भी कोई नहीं है इसका आरंभ नहीं है इसका आरंभ करने वाला कोई नहीं है इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा वैज्ञानिक जगत में इसको कोई स्थान नहीं है लेकिन ये बात वो इस संसार की निर्मित वस्तुओं के संदर्भ में देखते हैं वहीं तक सीमित रहते हैं लेकिन इस संपूर्ण सृष्टि का अधिष्ठान क्या है ये बनी कैसे है आरंभ किसने कर दिया इसको वहां चूंकि बुद्धि जवाब दे जाती है यंत्र जवाब दे जाते हैं कोई परिकल्पना नहीं हो सकती ईश्वर को हटाने के बाद में इसलिए कोई उत्तर नहीं है तो ऐसे में वो या तो कहते हैं कि ये मत पूछो इससे पहले का प्रश्न उठ ही नहीं सकता ये तो प्रश्न को ही वो नकार देते हैं प्रश्न को तो नहीं नकारा जा सकता प्रश्न तो है ईश्वर को छोड़ करके ईश्वर को हटा करके इसका कोई समाधान नहीं है जो ईश्वर को मानते हैं वो वहां पर भी समाधान देखते हैं जैसा कि इस मंत्र में आएगा तो हर वस्तु का जब संसार में बनी हुई हर वस्तु का कोई अधिष्ठान है जब उसका आरंभण है तो इस पूरे ब्रह्मांड का पूरी सृष्टि का ये भी कार्य है इसका भी कोई अधिष्ठान और आरंभण होना ही चाहिए इसके बिना संभव नहीं है तो क्या है वो आगे आएगा तो किंचित आसित अधिष्ठानम आरंभणम तो पहला प्रश्न किंचित कौन है वो तो अनेक चीजें हो सकती हैं कोई कहेगा कि आकाश इसका आश्रय है कोई कहेगा कि इसका जो मूल तत्व है मूल कण है वो इसका आधार है उन्हीं से आरंभ हुआ है ऊर्जा है एनर्जी है उससे ये सारी क्रियाएं हुई हैं ये सारी प्रक्रिया हुई है अनेक चीजें हो सकती हैं तो क्या है और फिर आगे प्रश्न पूछा कतमत स्वित और वो कौन सा है ये जो अनेक कारण संभावित दिखाई दे रहे हों मन में संभावित दिख रहे हों उनमें से कौन सा है वास्तव में आश्रय कौन है और वास्तव में आरंभ करने वाला कौन है भौतिक रूप से भी इसके उत्तर दिए जा सकते हैं लेकिन उसका भी आश्रय कौन है और उस क्रिया को आरंभ करने वाला भी कौन है महाविस्फोट भी हुआ तो वहां ऊर्जा का प्रारंभ और ये विनिमय और परिवर्तन वो कैसे हो गया जितने भी कारण हमें दिखाई देते हैं उन सब कारणों में भी सबसे पहला आधार आश्रय कौन है और सबसे पहला आरंभण कौन है इनमें से भी कौन सा है तो कहा कतमत स्वित कतम हाँ, इनमें से कौन सा है ये अनेक है इनमें से एक कौन सा है वो और यदि आप किसी एक को बता भी देते हो कि ये इसका अधिष्ठान है ये इसका आरंभण है तो फिर भी एक प्रश्न तो बचेगा कथासीत कथा केन प्रकारेण कथम किस तरह से वो इसका आश्रय है किस तरह से वो इसका आरंभण करता है ये प्रश्न फिर भी बचेगा इतना कहने मात्र से समाधान नहीं होगा कि ईश्वर इसका आश्रय है आधार है और आरंभण है कथा आसीत केन प्रकारेण केन न केन हेतु न किस कारण से है ये और किस प्रकार से है ये ये उत्तर यदि ना आए तो केवल परमात्मा को इसका आश्रय कहना और आरंभण कहना पूरा संतोषजनक तृप्तिकारक नहीं होगा इसलिए प्रथम पंक्ति में तीन प्रश्न उठाए किम स्वित कौन सी वस्तु कथम अस्वित ये जो अनेक संभावित लग रहे हैं इनमें से कौन सा और कथा किस रीति से किस विधि से किस कारण से वो है तो मनुष्य मात्र की जो जिज्ञासा रहती है उसको यहां पर परमात्मा ने वेद मंत्र के माध्यम से प्रकट किया और उसका समाधान अगली पंक्ति में दिया यतो भूमि जनयन विश्वकर्मा वे द्याम और्णोत महिना विश्वचक्षा एक विश्वकर्मा है समस्त कर्मों को करने वाला है सृष्टि का रचयिता है क्योंकि वो बनाने वाला है वो ही इसका आश्रय और आरंभण होगा जो सब कर्मों को करता है वही आरंभण हो सकता है और कर्मों को करने वाला चेतन ही होता है जड़ अपनी इच्छा से युक्ति से कर्मों को नहीं कर सकते वो स्वभावतः क्रिया वाले होते हैं लेकिन उनमें क्रिया का निर्देश किसी चेतन की प्रेरणा से व्यवस्था से होता है तो जो भी इसका आश्रय है जो भी इसका आरंभण है वो इस विश्व को करने वाला है इसको बनाने वाला है क्रियाओं को करने वाला है और वो चेतन है कोई तो भूमि जनयन जिससे कि जिसने की इस भूमि को उत्पन्न किया है जिसने इस भूमि को उत्पन्न किया है वही संपूर्ण ब्रह्मांड का संपूर्ण जगत का सृष्टि का धारण करने वाला भी है और आरंभण करने वाला भी है तो एक संकेत दिया कि कोई ऐसा ना समझ ले कि इस भूमि को बनाने वाला कोई और है और इस बाकी जगत को बनाने वाला कोई और है जैसे इस घर को बनाने वाला कोई और और उस घर को बनाने वाला कोई और ये संकेत दिया जा रहा है कि समस्त सृष्टि का बनाने वाला एक ही है क्योंकि इनमें परस्पर अद्भुत सामंजस्य है बड़ी ही अनुकूलता है एक दूसरे की वो तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कोई एक बुद्धिमान इसकी रचना करने वाला ना हो कुछ एक चीज है जो इन सब में तालमेल रखती है व्यवस्था करती है तो तो भूमि जनयन विश्वकर्मा और कैसा है वो द्याम इस द्यूलोक को ये जो प्रकाशित तारे विभिन्न हमें दिखाई देते हैं उन सबको वी औरणोत विभिन्न प्रकार से व्याप्त किए हुए हैं उनमें पहुंचा हुआ भी है इस सृष्टि का धारण करने वाला और आरंभ करने वाला वही होगा जिसने इसे बनाया है वो चेतन है और सबका वो एक ही है और न केवल उसने इनको बनाया है वो इसमें व्याप्त भी है विद्यमान भी है इस सृष्टि का आधार आश्रय अधिष्ठान वही हो सकता है जो सब जगह व्याप्त है वहां पहुंचा हुआ है जिसने इस सबको आवृत कर रखा है ढक रखा है अपने आश्रय में ले रखा है अपनी सन्निधि में ले रखा है वही इसका आरंभण भी हो सकता है और वही इसका अधिष्ठान हो सकता है तो अधिष्ठान होने के लिए वहां तक पहुंच होना यह भी अनिवार्य है इसे पता लगा कि जिसने इस सृष्टि को रचा है जो अधिष्ठान है वो एक देशी नहीं है वो सर्वव्यापक है सर्वव्यापक ही इसका अधिष्ठान हो सकता है द्याम भी अवनोत और वो कैसा है तो कहा विश्व चक्षा इस संपूर्ण जगत को वो जानने वाला है देखने वाला है न केवल वो वहां पहुंचा हुआ है बल्कि वो वहां पहुंच करके उसको भली प्रकार से जान भी रहा है उसने इसे बनाया है वहां पहुंचा हुआ है उसने आवरण कर रखा है ढक रखा है आच्छादित किया हुआ है सुरक्षा प्रदान कर रखी है और उसको जानता भी है वो जो सब जगह फैला हुआ तो हो लेकिन उन वस्तुओं को जानता ना हो विश्वचक्षा ना हो वो इसका अधिष्ठान नहीं हो सकता वो इसका आरंभण भी नहीं हो सकता कोई जड़ वस्तु बहुत व्यापक भी हो जैसे कि समुद्र का जल वहां स्थित विभिन्न प्राणियों का आधार है उनके जीवन को प्रारंभ करता है जैसे कि ये वायु हम सबके जीवन का आधार है और हमारे तक पहुंची भी है वो लेकिन ये विश्व चक्षा नहीं है ये जान नहीं रहे हैं ये तो अपने स्वभावतः जड़ रूप में विद्यमान है जल और वायु और उसमें ये सारी चीजें धारित हैं हम वायु के आधार पर जी रहे हैं लेकिन इस जगत का जो आधार है आरंभ करने वाला है इस समस्त सृष्टि का वो कैसा है वो इस वायु की तरह से नहीं है वो समुद्र के जल की तरह से नहीं है या प्रकाश को हम माने हमारा धारण करने वाला इस सृष्टि को जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का आधार ये सूर्य और उसका प्रकाश उसकी गर्मी ऊर्जा ये भी आरंभ करता हुआ दिखाई देता है ये भी पहुंचा हुआ दिखाई देता है किंतु ये विश्व चक्षा नहीं है जानता नहीं है उसको देखता नहीं है इस जगत का सृष्टिकार आधार और आरंभ करने वाला वही हो सकता है जो इसको जानता भी हो तो कथम सिद्ध ये बहुत से कारण दिखाई देते हैं उनमें से कौन सा है जो विश्वकर्मा है वे अवनोत है और विश्व चक्षा है फिर एक प्रश्न था कथा आसित किस तरह से उसने ये किया तो उसका उत्तर है महीना अपनी महिमा से किया उसने अपनी सामर्थ्य से किया किसी की सहायता नहीं ली वो अपने आप में इतना समर्थ है सर्वशक्तिमान है कि उसने इसको कर दिया वो स्वयं अपने आप में समर्थ है यही उसकी महिमा है तो तीनों प्रश्नों का यहां पर उत्तर दिया गया किंस्वित आसीत अधिष्ठानम आरंभणम कथमस्वित कथा आसीत यहां अब ये प्रश्न नहीं उठेगा और न उठाया जा सकता है और उठाया जाएगा तो एक ही उत्तर आएगा परमात्मा ने कैसे कर दिया इसको परमात्मा ने ये सामर्थ्य कहां से प्राप्त की यदि कोई यहां भी प्रश्न रखता है और कोई उत्तर भी देता है कि वहां से प्राप्त की परिकल्पना करके तो प्रश्न फिर वो आएगा कि जिसने इसको ये शक्ति प्रदान की उसने कहां से प्राप्त की थी अब उसका भी कोई उत्तर देगा कि इससे प्राप्त की थी तो फिर प्रश्न आएगा उसने कैसे प्राप्त की थी अर्थात ये अनवस्था रहेगी प्रश्न कभी समाप्त नहीं होने वाला है कोई ये सोचे कि हम इस बात का उत्तर दे दें परमात्मा ने यह सामर्थ्य कहां से प्राप्त किया था और प्रश्न समाप्त हो जाएगा तो प्रश्न समाप्त तो नहीं होने वाला है ये तो प्रश्न चलता चला जाएगा अनंत बार पूछा जाएगा अनंत बार यही रहेगा और प्रश्न फिर भी बना हुआ रह जाएगा कभी समाप्त नहीं होगा अंत में जाकर के हमें यह स्वीकार करना ही होता है कि परमात्मा ने इसको कैसे बनाया महिमा अपनी महिमा से बनाया उसकी सामर्थ्य अपनी है वो नित्य पदार्थ है इसके बिना कोई उत्तर नहीं हो सकता है परमात्मा कैसे फैला हुआ है सब जगह महीना अपनी सामर्थ्य से चूंकि वो सर्वव्यापक है वो किसी प्रयत्न करके फैला नहीं है कि कहीं एक जगह था और फिर प्रयत्न करके उसने अपने को फैला लिया हो वो तो फैला हुआ था विद्यमान था वो विश्व शिक्षा कैसे है कैसे देख लेता है सबको इतने सारे प्राणी हमें अनंत जैसे दिखते हैं उनकी अनंत क्रियाएं और इस सृष्टि के अनंत लोक लोकांतर कैसे उसको देख लेता है कैसे जान लेता है उसके पास कितनी आंखें हैं उस ज्ञान को कहां रखता है वो कैसे सब में सामंजस्य कर लेता है महीना अपनी सामर्थ्य से और कोई उत्तर नहीं हो सकता इसका उसकी सामर्थ्य ही ऐसी है वो स्वयंभू है अपने आप में इस सामर्थ्य से युक्त सदा से है और सदा रहेगा इसीलिए ये हो पा रहा है परमात्मा को इसी स्वरूप में माना जा सकता है और कोई स्वरूप नहीं हो सकता परमात्मा इस जगत का धारण करने वाला है आधार है और आरंभण है कारण है आदि कारण है मूल कारण है इसको बनाने वाला है इसलिए इस मंत्र का देवता विश्वकर्मा रखा गया है ये विश्वकर्मा के बारे में बताया जा रहा है ये मंत्र उस सृष्टा का इस समस्त कर्मों को करने वाले के बारे में बता रहा है उसकी महत्ता को बता रहा है तो इस मंत्र का विषय है विश्वकर्मा देवता और इस मंत्र का ऋषि है भुवन पुत्रो विश्वकर्मा ऋषि इस भुवन का पुत्र पीछे भी मंत्र आया था उसी क्रम में ये भी मंत्र है उन बहुत से मंत्रों का ऋषि भुवन पुत्र है इस समस्त जगत को जो धारण करते हैं उनको प्राप्त करने वाला और इस पूरे भुवन का जो पुत्र है रक्षक है वो इसका ऋषि है इस मंत्र का साक्षात्कार करने वाला भुवन पुत्र बनेगा बनता है और विश्वकर्मा इन समस्त कर्मों को करने वाला भी बनता है विविध चीजों को उत्पन्न करने वाला बनता है कैसे बनता है क्योंकि वो परमात्मा के यहां पर तीन या चार गुणों को देखता है एक तो यतो भूमि जनयन वो उत्पन्न करता है भुवन पुत्र और विश्वकर्मा वो मनुष्य बन सकता है जो उत्पत्ति करता हो उत्पन्न करता हो वस्तुओं को उत्पन्न करता हो व्यवस्थाओं को उत्पन्न करता हो शूरवीरों को उत्पन्न करता हो विद्वानों को उत्पन्न करता हो कुछ ना कुछ बनाने वाला होगा वो क्योंकि जैसे परमात्मा ने इस संसार को बनाया है अच्छे प्रयोजन के लिए इसलिए वो भी सृष्टि रचयिता होता है कुछ ना कुछ करेगा कुछ ना कुछ बनाएगा निष्क्रिय कभी नहीं रहेगा घर बनाएगा नगर बनाएगा विभिन्न चीजें बनाएगा यंत्र बनाएगा कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहेगा तो पहला वो उत्पादक हो जाता है उत्पन्न करने वाला हो जाता है क्योंकि परमात्मा भी उत्पन्न करने वाला है ये तो भूमि जनयन और फिर कहा भी और्णोत उनको आच्छादित भी रखता है वो वहां तक पहुंचता भी है बना बना के छोड़ नहीं देता है वहां तक अपने को प्राप्त भी रखाता है परमात्मा की तरह मनुष्य व्यापक तो नहीं बन सकता लेकिन अपनी गतिविधि से वहां पहुंच सकता है फसल बोधी उत्पादक कर्म कर दिया लेकिन वहां जाना भी तो होता है वो पहुंचेगा जाएगा देख सब जगह पहुंचेगा जो जो चीजें उसने बनाई है वहां पर वो गतिशील भी रहेगा प्राप्त भी होगा आच्छादित रखेगा उसको अपनी सुरक्षा में रखेगा और केवल न वहां पहुंचेगा पहुंचने के साथ साथ विश्व चक्षा उसको देखेगा भी ऐसे ही कोई अपने खेत खलियानों में जाता रहे न कुछ देखे बस घूम करके आ जाए इससे वो भुवन पुत्र नहीं बनेगा विश्वकर्मा नहीं बनेगा उसने खेत को बनाया है बोया है उसने यंत्रों को बनाया है तो वहां जाएगा और जाकर के उनको देखेगा भी क्या ठीक है क्या नहीं है और देखने के आधार पर वहां पर क्रिया भी करेगा सर संभाल करेगा दोष आए तो ठीक करेगा तो उत्पन्न करता है जनयन नोत आच्छादित करता है फैलता है वहां पहुंचता है प्राप्त होता है और उसे देखता है ये तीन चीजें होंगी प्रचारक भी है तो वो लोगों को धार्मिक बनाएगा उत्पन्न करेगा उनको उनमें ज्ञान उत्पन्न करेगा और यदि केवल प्रचार करके और उत्पन्न करके और फिर दोबारे वहां ना पहुंचे तो प्रचार नहीं होगा समाप्त कुछ दिनों में जो प्रचारक प्रचार करके फिर वहां बार बार जाते हैं उस जगह पे जितना भी अपना क्षेत्र बनाया वहां तक केवल एक ये शैली है कि इधर गए उधर गए उधर गए बाद में वहां पहुंचने का प्राप्ति का कोई लक्ष्य नहीं कोई प्रयोजन नहीं वो व्यर्थ प्राय हो जाता है तो उत्पन्न करके वहां पहुंचता भी है ये भुवन पुत्र बनने की प्रक्रिया है जितना भी है थोड़ा किया लेकिन पहुंचेगा वहां पर वो रहेगा और न केवल रहेगा वहां जाकर के उन तक पहुंचेगा उनको देखेगा भी ये कैसे कर रहे हैं कैसे चल रहे हैं तो किसी भी क्षेत्र में प्रचारक हो राष्ट्र का निर्माता हो विभिन्न फैक्ट्रियों का समवायों का बनाने वाला हो कुछ भी अच्छा काम करने वाला हो उसको तीन चीजें चाहिए उत्पन्न करेगा वो उसकी पहुंच रखेगा वहां जाता रहेगा और देखभाल करेगा देखेगा उसको तो परमात्मा के इन गुणों को समझ के उसकी प्रक्रिया को समझ करके जो चलता है वो भुवन पुत्र बनता है वो विश्वकर्मा बनता है और एक बात यहां सीखने की कि ये उत्पन्न करना पहुंचना और देखना कैसे करना है महीना महिमा से करना है अपनी योग्यता बनानी है ऐसी अपनी सामर्थ्य बनानी है ऐसी बिना योग्यता के नहीं पहले अपने को बड़ा बनाना है महिमा अपनी करनी है उतनी उतनी उन उन कार्यों के प्रति उन उन रचनाओं के प्रति जो हम चाहते हैं करना अपनी सामर्थ्य से करेगा वो अपने बलबूते पे करेगा अपने पे आत्मविश्वास रख करके करेगा दूसरों के आधार पे अधिक नहीं चलेगा दूसरे मिलते हैं तो ठीक है नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन कोई कार्य करेगा तो अपने आधार पे करेगा अपनी सामर्थ्य बढ़ा करके करेगा कितने व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न फैक्ट्रियों को खोल लेते हैं इससे सहयोग मिल जाएगा उससे ये हो जाएगा एक परिकल्पना में सहयोग को कर लेते हैं अपनी सामर्थ्य नहीं बनाते अन्य कोई कार्य है आश्रम है गुरुकुल है अपनी सामर्थ्य को कम कर रख करके प्रयत्न न करके भविष्य की संभावित सहयोग को देख करके संभावित सहयोगों को देख करके कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा मैं ये करूंगा मेरे को इतना सहयोग मिल जाएगा ये व्यक्ति मिल जाएंगे ऐसी कल्पना करके चलने वाले प्राय असफल होते हैं प्राय भी न कहें कि पूर्ण सब असफल होते हैं हाँ जिसने योजना बनाई है उत्पादन किया है वो जानता है कि इस इस तरह करूंगा और उचित है ऐसा सहयोग मिल जाएगा कल्पना में नहीं अपनी सामर्थ्य ऐसी रखता है कि ऐसा सहयोग मिलेगा अपने को योग्य बनाता है तो सहयोग भी अवश्य हो जाता है और कार्यों में सफलता मिल जाती है तो उत्पन्न करना वहां पहुंचना अपनी उपस्थिति प्रदान करना और देखना और ये सब अपने बल पे अपने आत्मविश्वास पे करना अपनी सामर्थ्य बढ़ा के करना अपना प्रयत्न कम हो और दूसरों के बल पे करने वाला हो अपनी सामर्थ्य को नहीं बढ़ा रहा है स्वयं उसमें नहीं खप रहा है लेकिन ये सोच रहा है मैं शुरू कर दूंगा लोगों को आकर्षित करूंगा ये बड़ी योजना है जोड़ लूंगा और मैं तो फिर विश्राम में चला जाऊंगा आराम से करूंगा और ये लोग करते रहेंगे इनसे मैं करवाता रहूंगा वो व्यक्ति नहीं सफल हो सकता वो भुवन पुत्र नहीं बन सकता अपनी सामर्थ्य चाहिए और स्वयं उसमें खपना भी चाहिए और जो भी ऐसा करेगा जितने भी क्षेत्र में छोटा बड़ा वो उतने अंश में भुवन पुत्र और विश्वकर्मा बनेगा बनता ही है मंत्र की संदेश को परमात्मा के संदेश को आर्य अपने मन में रख करके चलेंगे अपने जीवन को देखेंगे कि हम इस क्षेत्र में कहा कम है तो उसी प्रकार से हमारी प्रकृति होगी एक बात कल वाले प्रसंग में पिछले मंत्र के प्रसंग में इकतीसवें मंत्र में इशे पिन बस्व इस मंत्र में ऋषि थे दीर्घ तमाह ऋषि तो ये दीर्घ तमाह विसर्ग वाला है उस दिन जो मैंने अर्थ किया था उसका संशोधन कर रहा हूं दीर्घ तमाह ऋषि तो दीर्घ मतलब तो बड़ा होता ही है और दूसरा शब्द है तमस तमस शब्द भिन्न भिन्न अर्थों में आता है तो अभिकांक्षा कांक्षा इच्छा अर्थ में भी आता है तो ताम्यति कांक्षति ये न तत्तम उणादि कोश में महर्षि दयानंद ने भी ये लिखा है भाष्य में जिसके द्वारा कांक्षा करते हैं उसे तम कहते हैं और उसके वस्तुओं के नाम गिनाए किस किस को तमह कहते हैं तमस कहते हैं तो पहला है गुण गुण को भी तमस कहते हैं अच्छे अर्थों में है ये और है क्लेश क्लेश को भी तमस कहते हैं ये निंदित अर्थ में है और रात्रि को भी तमस कहते हैं ये भी निंदित अर्थ में है यहां पर अपने आप में रात्रि के लिए ठीक है ये लेकिन इस ऋषि को अगर हम तमस रात्रि कहेंगे तो ये निंदित अर्थ में जाएगा और अंधकार को भी तमस कहते हैं ये अर्थ किए तो यहां पर ये गुण वाला अर्थ लेंगे हम तो दीर्घम तमह यस्य स सदीर्घ तमाह ऋषि बहुत अधिक गुण है जिसमें या जिसके उसे दीर्घतमाह ऋषि कहेंगे और उस मंत्र का साक्षात्कार करता क्यों दीर्घतमाह ऋषि बना था और कैसे कोई भी मनुष्य दीर्घतमाह बन सकता है जिसमें बड़े बड़े गुण हो तो उसके लिए जो पिछले मंत्र की बात थी कि अन्न के लिए हमें पुष्ट कर हम पुष्ट हों हम अपनी योग्यता बढ़ाएं कि इन वस्तुओं का अधिक लाभ ले सकें जो व्यक्ति केवल वस्तुओं को अच्छा करने में प्रयत्नशील है कि ये अच्छी अच्छी मिल जाए इससे मेरी प्रगति हो जाएगी वो उतना बड़ा नहीं बन पाएगा वो वस्तुएं भी अच्छी होनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य भी अधिक होनी चाहिए कि हम अधिक अच्छी तरह सीख सकें हम अधिक अच्छी तरह पढ़ सकें हम अधिक अच्छी तरह इसका पाचन कर सकें अधिक अच्छी तरह अपने शरीर का अंग बना सकें यानी अपने उपयोग करने की सामर्थ्य को भी जो बढ़ाता है वस्तुओं की योग्यता को भी बढ़ाता है उनको भी उत्कृष्ट करता है और उनका उपयोग लेने की सामर्थ्य भी जो बढ़ाता है वो दीर्घतमा बनता है बड़े बड़े गुणों वाला बन जाता है जो मनुष्य जितने अच्छे साधनों का उपयोग करेगा जितने अच्छे साधन लेगा और जितनी अच्छी तरह से उनका उपयोग करेगा वो उतना ही अधिक सफल होगा ये सूत्र है वो दीर्घतमा ऋषि बन जाता है वो भी सूत्र इस तरह का था तो मन में भावना रखते हुए ओम का उच्चारण ओ